राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम मदारी भाग दो मोहनी राव द्वारा लिखित इस आलेख को प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता दोस्तों जय हिंद हम्म तो लो दोस्तों आज फिर तुमसे मिलने आ रहे हैं मदारी भैया दोस्तों तुम्हें मालूम है ना उन्हें बुलाने के लिए ताली बजानी होती है हम्म तो दोस्तों बजाओ जोर से ताली और बुलाओ मदारी भैया को बच्चों के खेल सच्चों के खेल खेल खेल खेल सच्चे बच्चों के खेल लालू के भालू के सिकंदर के बंदर के शेर के बकरी के खेल देखो खेल मदारी भैया राम राम राम राम मदारी भैया राम राम बिटिया कल की कहानी और गीत हमें बहुत अच्छे लगे थे मदारी भैया अरे बाप रे ये तो शेर दहा रहा है यहाँ से भाग चलो मदारी भैया मुझे तो डर लग रहा है अरे डरने की क्या बात है शेर यहां कैसे आएगा वो तो कटघरे में बंद है कटघरे में बंद है कटघरे में कैसे बंद हुआ किसने बंद किया चलो हमें दिखाओ उसको शिकारी ने बंद किया था मदारी भैया कैसे बताओ ना भाई शिकारी ने अपनी चालाकी से शेर को कटघरे में फंसा ही लिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया शेर गुस्से से दहाड़ता कटघरा तोड़ने की कोशिश करता लेकिन वो निकल नहीं पाया अच्छा हुआ नहीं तो बाहर निकलकर सबको खा जाता तभी क्या हुआ बिटिया थोड़ी ही देर में उधर से एक ब्राह्मण आ निकला शेर को देखकर वो चुपचाप खिसक जाना चाहता था लेकिन शेर ने उसको देख लिया और पुकारा ए ब्राह्मण देवता जरा यहाँ आओ और दया करके इस कटघरे का दरवाजा खोल दो ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं खोलूंगा कटघरे से निकलकर तुम मुझको ही खा जाओगे शेर ने गिड़गिड़ा कर कहा नहीं मैं तुमको नहीं खाऊंगा हम्म, कोई अपनी जान बचाने वाले को खाता है मैं इतना बुरा नहीं हूँ हम्म, मैंने बहुत जीवों की हत्या की है अब अब तो बस राम भजन करूंगा आपका चेला बन जाऊंगा शेर सचमुच अच्छा हो गया था तुम्हारी तरह वो ब्राह्मण भी उसकी बातों में आ गया बोला एक बार फिर कसम खाओ के मुझको नहीं खाओगे शेर ने बार बार ब्राह्मण से कहा मैं तो इस कटघरे में बंद होकर बिल्कुल बदल गया हूं मुझको तो आप दोस्त समझो भोले ब्राह्मण ने कटघरे का दरवाजा खोल दिया फिर क्या हुआ शेर एक छलांग में बाहर निकला और ब्राह्मण से बोला ओम तो मैं तुमको खाऊंगा <laughs> बहुत भूखा हूँ और बड़ी देर से आदमी का मांस नहीं खाया झूठा कहीं का इतनी जल्दी भूल गया अपना वादा ब्राह्मण थर थर थर थर कांपने लगा बोला वाह जंगल के राजा तुमने तो कसम खाई थी कि मुझको नहीं मारोगे शेर ने कहा इस समय तो तुमको खाना चाहता हूँ बड़ी भूख लगी है इतने में एक लोमड़ी उधर से आ निकली ब्राह्मण की जान में जान आई उसने पुकारा लोमड़ी मौसी इधर आना लोमड़ी ने कहा क्या बात है अरे ये तो शेर मामा है तुम ब्राह्मण देवता से क्या कोई पोथी पत्रा दिखवा रहे हो ब्राह्मण ने सारा किस्सा सुनाया और रोकर बोला अब ये तो मुझको खा जाना चाहता है लोमड़ी ने इशारे से पंडित जी को समझाया कि तुम चुप रहो फिर शेर से बोली लेकिन मामा मुझको तो समझ में ही नहीं आ रहा के इतने बड़े तुम इस छोटे से कटघरे में बंद कैसे हो सकते हो सच पूछो तो मुझे सब झूठ लग रहा है शेर ने कहा देखो लोमड़ी एक शिकारी ने मुझे धोखे से फंसा दिया था इस कटघड़े में आओ लोमड़ी बार बार ये कहती जा रही थी मुझको तो विश्वास ही नहीं होता जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं और जब तक मुझको यकीन नहीं आता मैं भला आपका झगड़ा कैसे निपटाऊंगी शेर ने तपाक से कहा तो इसमें क्या मुश्किल है हाँ मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूं शेर जल्दी से कटघरे में घुस गया शेर जैसे ही कटघरे में घुसा ब्राह्मण ने झट कटघरे का दरवाजा बंद कर दिया लोमड़ी ने कहा ब्राह्मण देवता जान बची और लाखों पाए अब यहां से भागो भागो हम्म, तुम भी बिल्कुल बुद्धू हो अरे भला कोई बंद शेर को बाहर निकालता है तुमने खुद अपनी मौत बुलाई थी समझे शेर तुम्हारे साथ मुझको भी खा जाता समझे अबू भागो भागो ब्राह्मण ने कहा लोमड़ी मौसी अरे तुमने मेरी जान बचा दी लोमड़ी ने कहा अभी तो चलो मेरे घर में कभी कोई शादी ब्याह हो तो मेरे घर जरूर आ जाना अच्छा राम राम लोमड़ी और ब्राह्मण तो चले गए शेर गुस्से में पागल सा कटघरे में दहाड़ता रहा home. हम्म। लोमड़ी मौसी बहुत चतुर थी अगर वो न आती तो ब्राह्मण की छुट्टी हो जाती तभी तो लोमड़ी को एक बहुत चतुर जानवर समझा जाता है अरे मुझको गीत तो सुनाया ही नहीं अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया लो सुनो ए, कौन सा गीत सुनोगी बाबा कुत्ते वाला गीत कुत्ते वाला प्यारा प्यारा पिल्ला कैसा प्यारा प्यारा पिल्ला सबसे न्यारा न्यारा पिल्ला सबसे न्यारा न्यारा कभी हमारा पिल्ला गिरता कभी हमारा पिल्ला कैसा प्यारा प्यारा पिल्ला कैसा प्यारा प्यारा पिल्ला सबसे न्यारा न्यारा पिल्ला सबसे न्यारा फिर आऊंगा फिर